सांस रोकी सब में नमस्कार आप सुन रहे radio Madhuban ninety point Tarang digital singing competition का ओपन राउंड हम लोग सुनने जा रहे हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ओपन राउंड में तो एक से बढ़कर एक आवाज़ आप तक पहुंचने वाली है जो भी बच्चे की आवाज़ आपको अच्छी लगेगी ज़रूर उसके लिए मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम और स्टूडेंट का नाम लिख कर सेंड कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो आइए तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और सबको रेडियो मधुबन टीम करता है बहुत सारी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 वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरी जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फैसाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तरंग सुरों की सब नमस्कार मेरा नाम रीमा चौधरी है मैं बीसीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ मैं गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है ए मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम चूम लूम उस जहाँ को जिस पे आए तेरा नाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान ऐ मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पैदल कुर्बान तरंग सुरों की सब में voice by Anita BSc first year तू कितनी अच्छी है तू कितनी प्यारी है प्यारी प्यारी है हो माँ devant कृतिका मिश्रा सब मिलकर गाए हाँ Tarang on radio Madhuban 90.4 FM 90.4 FM गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरों की वॉइस बाय टीना सैनी गोपाल निहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिने हमरा कोनो नहीं तुमरे बिने हमरा कोनो नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिने हमरा कोनो नहीं तुमरे बिने हमरा बेपना से मोहब्बत की है दिल ने भी है चाहत की है तेरे बिना मेरा लागे ना जिया तेरे लिए ही धड़के जिया तेरे बिना मेरा लागे ना जिया तेरे लिए ही धड़के जिया मेरे दिल को तेरे दिल की ज़रूरत है मेरे दिल को तेरे दिल की ज़रूरत है मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है मेरा जरूरत है तरंग सुरो की सब मिलकर voice by Salu BSc first year मौसम नदी का किनारा चंचल हवा ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा क्या बात है आज की चांदनी में कि हम हो गए प्यार की रागिनी में ये बाहों में बाहें बहकी कि आने लगा जिंदगी का मजा ये मौसम नदी का किनारा चंचल तरंग सुरों की सब मिल Ranjan Sharma and I am pursuing BSc Biotech second year from Biani Girls College. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें तुम ही कह दो अब है जानी वफा हम क्या करें ये दिल तुम बिन नहीं लगता नहीं हम क्या करें किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा तरंग सुरों की सब मिलकर voice by Diksha Sharma BBA first year में ऐसी दुनिया की है जिनसे दिल ये डरता है दिल बेबस है मिलना चाहे ये रोता है तड़पता है चांद मेरा नारा हासिल है ना बात करे ना मिलता है कैसे उसको समझाओ न समझे रिश्ता दिल का है तरंग सुरों सब मिल voice by Garima Verma B S C third year ये न राज की का किसी सारी तेरी मेरे सोने सुनाए मेरी दिल दिया गला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नु मिला के दिल दिया गला करे ये नाल नाल बैके अख नाल मिला voice by Shweta Bharti BSc second year मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो अपनी जज्बात बना लो जना मुझको अल्फाज बना लो दिल की आवाज बना लो गहरा सा राज बना लो जना बसाहों में दहकने दो मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो अपनी जज्बात बना लो जना तेरे संगे गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है खसकी दो नजरा खुल की काहे की दासी है हाँ तेरी संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है हंसी दो नजर खुल की काहे की दासी है सुबाहों में आने दो मेरे कातिल मुझे जीनी मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो अपनी जज्बात बना लो जना तरंग सुरो सब मिलकर बाय गर्गी राय Rai. दी हम बालकों को ज्ञान का वरदान दो शारदी हम बालकों को ज्ञान का वरदान दो ज्ञान की ज्योति जला कर मान और सम्मान दो ज्ञान की ज्योति जलाकर मान और सम्मान दो शारदे हम बालकों को ज्ञान का वरदान दो हम हनन्ने मुन्ने बालक तव पुजारी माँ तव पुजारी माँ गूंजता है हर जगह पर गीत मयूरों का गीत मयूरों का वंदना के इन क्षणों में प्यार का मधुदान दो वंदना के इन क्षणों में प्यार का मधुदान दो शारदे हम बाल को by Anjali Agarwal BSc first year दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर दिल की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा मासमानों में उड़ने छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर दिल की होनी सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा तरंग सुरों की सब में voice by Rajni Malu BSc final year घड़ी जो है तुम्हारा Jyoti Shekhawat BBA first year मेरे हम सफर एक जरा इंतजार दे रहे प्यार की जिसको दुआ में मांगा तू है वही रहनुमा तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है प्यार की तरंग सुरों की सब मिलकर voice by Nisha Sharma BCA first year मैं कभी बतलाती नहीं पर अंधेरे से डरती हूँ मैं माँ यूं तो मैं दिखलाती नहीं तेरी परवाह करती हूँ मैं माँ तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ भीड़ में यू न छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊ माँ भेजना इतना दूर मुझको तू तो। याद भी तुझको आना पाऊ माँ क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ तरंग सुरों की सब my name is Priya Saini and I'm from BSc Part 3rd year CBZ. Ha, ha, oh, ha, ha, oh. एक तुम एक मैं तीजा मांगो क्या खुदा से दिल दो जा दो क्या दो इतना बता दे तेरा मेरा रिश्ता है सांसों से बिना सुख तुम सा हम सा दूजा ना होगा ना हुआ है दो दिल सा एक सीने में जैसे मैं और तुम हम दोनों हम एक जीने में जैसे मैं और तुम जैसे ज्यादा चाह तुमको प्यार हर दम हमदम हम तुम तुमको जिया आज साफ साफ कहती हूँ मुझे तुमसे प्यार है तरंग सुरों की सब में वॉइस बाय सलोनी शर्मा ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू है वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू है वतन है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन मेरे वतन तरंग सब मिलकर गाए हाँ तरंग ऑन रेडियो मधुबन 90.4 गाएंगे सब मिलकर गाएंगे Tarang voice by Srishti Yadav BSc first year तेरी आराधना करो तेरी आराधना करो पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करो तेरी आराधना करो तू ही महाशिव शक्ति तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महाशिव शक्ति तू ही है मेरे जीवन का संगी हृदय के तार छेड़े झंका तेरी आराधना है माधुर की जीवन से तू तेरी महिमा पाई एक ही प्रार्थना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तरंग सुरों की सब Hey, this is Megha Adhikari, class 12th from Gia Global Academy. जादू है नशा है मदहोशिया तुझको भुला के अब जाऊंगा जादू है नशा है मदहोशिया तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहाँ जादू है नशा है मदहोशिया तुझको भुला देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहाँ जादू है नशा है मदहोशिया तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ ये सकते खो ना जाना झुके कर लो यकी न जाने पले जाए कहा जादू है नशा है मद होशिया तुझको भुला के बम जाऊ कहा बाहों तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद कुछ छुपाऊँ कहाँ जादू है नशा है मद होशिया तुझको बुला के अब जाऊं कहाँ तरंग सुरों की सब Hello guys, this is Nikita Joshi from MJMC previous जीती हूँ तुम्हें देख के मरती हूँ तुम्हें पे तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे जीती हूँ तुम्हें देख के मेरी हो तुम्ही पे तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे एक तेरे भरोसे ही अब बैठी हूँ सावरे एक तेरे भरोसे ही अब बैठी हूँ सावरे गुजरो के सब मिलकर गाए हाँ Tarang on radio Madhuban 90.4 FM 90.4 FM गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरों की वॉइस बाय रुचि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाह ले लो कसम चाह ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम हमारी गजल है तस्वुर तुम्हारा हमारी गजल है तस्वुर तुम्हारा तुम्हारा तक है दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम तरंग सुरो की सब मिल hello my name is Shubhe Kasera and I am from M J M C previous और अभी मैं गाने जा रही हूँ मुझे रात दिन मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो तरंग सुरों की सब में वॉइस बाय ज्योति सिंगला सा सा रे सनी नी सनि पाप नि प म प म प ग म प नि धा धा ध स प प प नि म म प म ग म ग म प नि सा मा सरस्वती शारदे मा सरस्वती शारदे पूर्ण अज्ञान उदधिसे पूर्णैस्य अज्ञान उदधिसे वीणापाणि तार दे तार दे तार दे मा सरस्वती शारदे मा सरस्वती शारदे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते है सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे वीणा पाड़ी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे तरंग सुरों सब मिलकर voice by Bhavna Meghwal M J M C previous जो भी तेरे दरियाया झुकने जो सरियाया मस्तियां पी सबने झूमता नजर आया प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया नूर की बारिश में है नूर की बारिश में بيقطع سارها يا مولا مولا مولا ميري مولا مولا مولا مولا مولا دراري دراري ما تب مولا مرمت مقدر كي كردو مولا ميري مولا तरंग सरोके सब मिलकर गाए हाँ Tarang on radio Madhuban 90.4 FM 90.4 FM गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग वॉइस बाय वर्षा जैन किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तो छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर किसी राह में किसी मोड़ पर तेरे voice by Astha BA first year. उसका उसने उसे उसे का रहने दे मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे दिल मुझे दे अगर दर्द दे वॉइस बाय प्रेक्षा अरोड़ा मिला तुम्हें जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम झूम झूम बाबा झूम झूम झूम बाबा झूम झूम झूम बाबा ये रात में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है Hep bu hedis ki bahome में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है सुरूर छा रहा है क्या खुशी चमक रही है डांस डांस ड्रम पे थापू पड़ रही है हार्ट बीट बढ़ रही है डांस डांस ये जवानी ये जमाना ऐसी धूम ये खुशी कहा ये जवानी ये जमाना ऐसी धूम ये खुशी कहा रात में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है Adhikari, Beef of Mascom, first year from Biani College.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 रहो सब ने